सब कुछ छोड़ के घर से जो संबंध कार्य करना आदि आदि सारे व्यवहार छोड़ के जिस दिन मैं केवल इसी ध्यान में ही रहने लगा उस समय उन्होंने एक मास तक मुझे पागल उन्होंने भी पागल ही माना मुझे उन दोनों ने और तो मानते ही मानते थे पागल अब एक मास के पश्चात कहने लगे उनके मन में आया ये तो कुछ बिल्कुल ही विचित्र सी बातें करता है और कुछ विशेष बुद्धिपूर्वक बात सोचता है पागल तो नहीं हो सकता है ऐसा सोच रहे थे तो उनको ये बात कुछ जची के वास्तव में कुछ चीज इसके हाथ लगी है कुछ विशेष चीज हाथ लगी है ऐसा कैसे हो सकता अब उन्होंने मेरी बात सुननी आरम्भ कर दी आरम्भ जब कर दी तो उनको भी वैसा ही वैराग्य होने लगा उसी ढंग का और उसी प्रकार से मौन रहना देर तक बैठना ध्यान लगाना आदि आरम्भ कर दिया उन्होंने तो घर वालों ने ये देखा जैसे वो तो पागल हो ही चुका है इनके साथ ये और पागल हो गए और ये हमारे हाथ से जाएंगे तो घर ने उनको खूब धमकाया बन गए भगत बन बैठे ये होगा खूब डांट मारी और दोनों के दोनों घबरा करके वैसे ही हो गए जैसे पहले सांसारिक थे आप विवेक वैरागी की ओर चलेंगे तो ये सारी स्थिति आपके साथ आएंगी और मैं तो सुना रहा हूं सिखा रहा हूं कि ऐसी स्थितियां होती है आपने सुनी भी नहीं सीखी नहीं इनका उत्पादन कैसे कर लेंगे आप असंभव तो नहीं प्राय व्यक्ति इन स्थितियों को उद्बुद्ध कहां करता है वो संसार में लगा रहता है इन स्थितियों को उद्बुद्ध करने के लिए उसको क्या क्या गहराई में क्या क्या सोचना पड़ता है क्या विचारता है वो कैसे संसार को उथल पुथल करता है वो कैसे संसार नहीं था तो क्या था नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा मैं मरूंगा नहीं मरूंगा ये सारा मंथन कर डालता है तब ये उद्बुद्ध होती है स्थिति नहीं तो नहीं हो सकता ये उभार उस समय आता है ऐसे व्यक्ति करना नहीं चाहता जब नहीं करना चाहता तो ये उभार भी नहीं आता ये नहीं आता तो विवेक वैराग्य नहीं होते विवेक वैराग्य नहीं होते तो समाधि भी प्राप्त नहीं होती सारी स्थितियां ये अब आगे बढ़े यदि वो डरते नहीं और उमड़ डरने का कारण आपको बतलाऊं मैंने पूर्वापर संसार को मंथन किया प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर सब बातों का समाधान कर डाला कोई डराने वाला व्यक्ति नहीं है संसार में डरने वाला भी नहीं है उन्होंने वो पूरा मंथन तो किया नहीं मेरी बात सुन के प्रभावित हो गए और जो डर की घटनाएं हैं आने वाली पता नहीं मरने तक के डर है मृत्यु तक का डर व्यक्ति को घेरता है उनको उन्होंने समाधान नहीं ढूंढा तो उन घटनाओं से डर गए कुछ समझ में आ रहा उन घटनाओं से वो डर गए यदि उन घटनाओं का भी बौद्धिक स्तर पर वो समाधान कर लेते ये घटना भी होगी ये निश्चित होगी मरेंगे निश्चित ये अब धमकाएगा भी संसार कुछ भी कल्पना सारी कर डालते उनका समाधान कर देते तो घर वालों के धमकाने से वो कभी भी डरते नहीं मैं नहीं डरा घर वालों के धमकाने से गांव का गांव पागल कहने लगा नहीं डरना क्या डरना पूरा संसार मिटा के रख दिया कौन डरने वाला है और कौन डराने वाला है पूरा संसार मिटा के रख रखा है और वो दृढ़ अंतिम निर्णय हो जाता है निश्चित ऐसा ही था ऐसा ही होगा कैसे कैसे घटनाएं आती है सामने अब और सुनाता हूं आपको उनमें से एक व्यक्ति ने जब ये बातें सुनी थी और प्रभावित हुआ था वो व्यक्ति अपने दिन में विचारता रहा सोचता रहा जैसे मैंने अनित्य है सारा संसार नाशमान है सब कुछ ईश्वर का है वो ऐसे ही सोचता रहा ऐसे ही सोचता रहा तो ये जैसे ये होते ना ये पेड़ है ऐसे करीर कैर पेड़ होता है जिस की संविधाओं से जी क्या विशेष यज्ञ किया जाता है विधान है ना कारी रह करीर की संविधाएं कारी रह उसके फल लगते हैं कभी गांव में नगरों में बेचते देखे हो उसका शाक बनाते हैं अचार डालते हैं पकने पर वो मीठा गोल गोल हो जाता है ना ना ये इसको कैर या करीर है संस्कृत में तो गांव के लोग इसको कैर बोलते हैं बहुत काट डाले अब तो कम मिलते हैं तो वो क्या करता वो उस करीर के ऐसे पेड़ के नीचे बैठ करके अपना ये मंथन कर रहा था ये सब कुछ नाशवान है ये सारा विनाश को प्राप्त होगा पर याद रखना जब मृत्यु कोई व्यक्ति सामने जाता है बौद्धिक स्तर पर तो जितने मृत्यु से होने वाले डर हैं सांप का डर चोर का डाकू का डर पता नहीं क्या क्या डर होते हैं संसार में वो भयंकर डरावने वाली भावनाएं उद्बुद्ध होती हैं अंदर उदाहरण के रूप में किसी को मृत्यु दंड का आदेश मिला इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा और इसको बचाने वाला संसार में कोई भी नहीं है उस समय जो कल्पना होती है उसके मन में डर की कल्पना है मैं मिट जाऊंगा मैं ये हो जाऊंगा ये हो जाएगा पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा उस समय काल्पनिक दिखाई देगा ये विचित्र स्थिति पैदा होती है मृत्यु के समय आपने कभी एक समझने की दृष्टि से गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की एक घटना उसका भाव सुनाता हूं उन्होंने जो लिखा उसका भाव उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था विदेश का और वो सेना में आगे चला गया जब आमने सामने जो दल युद्ध होता था टुकड़ी जो पहली टुकड़ी खंड जाता था प्राय समाप्त हो जाता था फिर पीछे एक दल और जाता था सेना का आमने सामने गोलियां चलती थी जैसे तो उन्होंने बतलाया है कि वो व्यक्ति युद्ध में था और उसको उसके मन में शत प्रतिशत बैठ गया मैं अगले मोर्चे पर जा रहा हूं और बचना हूं ही नहीं हो ही नहीं सकता मैं बच के आ जाऊं ये दिमाग लेके आगे युद्ध में बढ़ गया भयंकर रूप से मरे गए कट गए सब कुछ हो गया एक आध व्यक्ति तो बच ही जाता वो बच गया सारे तो नहीं मतलब बच गया वो बचने के पश्चात कोई मित्र था या कौन था उसने पूछा उसी से कि भाई मैं अमुक व्यक्ति से मिलना चाहता हूं बताओ वो कहते वो तो युद्ध में मर गया अपने आप को कहता वो वो तो मर गया इतना परिवर्तन मर गया वो तो लड़ाई हुई थी उसमें मर गया वो इतना दिमाग बदलता है कभी पागल हो जाओ आप तो ये जो स्थिति है वो करीर के नीचे जब बैठा था याद रखना और मृत्यु की घटना वो ले लेकर चल रहा था वो जिसे मैंने उसको बताया अब उसको काला सांप दिखाई दिया आंख बंद की वजह से होता है और उस शाखाओं में को काटने वाला जैसे है और वो भाग पड़ा हुआ और बड़ा डरा हुआ घबराया हुआ वो दूसरा जो था हम तीन में से फिर इसको तो पता नहीं क्या हो गया बोलता नहीं पता नहीं क्या पागल जैसा हो गया है धीरे धीरे इससे पूछा गया क्या बात होगी बताओ ने आज उसने लेकर उसने बताया कि ऐसे काला सांप था मुझे काटने के लिए आया जैसे था तो मैं भाग पड़ा मैंने कहा होता कुछ नहीं ये तो काल्पनिक है मैंने उसको समझा ये काल्पनिक का होता नहीं है डर से संस्कार बनते जैसे स्वप्न में बनते होता कुछ नहीं उसका डर दूर कर दिया वो ठीक हो गया <laughs> आपके सामने ये घटना आएगी क्या सोच रहे हो आप है जी आप सोचने लग जाओ बेकार है हम अपने खाए पिएंगे मजे में रहेंगे क्यों खाम खा झगड़े में पड़े जियेंगे जब तक जीते रहेंगे क्या करना है इससे बच नहीं सकते तो उसमें भी ध्यान देने की बात है कि एक व्यक्ति पूरे संसार का मंथन करता है प्रत्येक घटना जितनी भी घटना हो सकती है वो सारी बौद्धिक स्तर पर जाके देखता है वो राजा बन के देखता है वो ऋषि बन के भी देखता है आपने दृष्टानुसर्विक तो सुना होगा ना एक तो दृष्ट और अनुसर्विक दो विभाग बनते पूरे उसके वो दृष्ट तो चीज हमारी देखी हुई है घटना मार काट जो भी कुछ देखी हुई और जो घटना देखी कभी नहीं परंतु वो हो सकती है और ऐसी सुनी जाती है वो सारी की सारी सामने आएंगी और सबका समाधान करेगा यद्यपि कुछ बातें ऐसी होती हैं अनुसर्विक रहती हैं चक्रवर्ती राजा हम नहीं बनेंगे मान के चले पर हम बौद्धिक स्तर पर चक्रवर्ती राजा बन के देखते हैं अच्छा आप देखते हैं राजा बन के असतोष अच्छा, जी आप बौद्धिक स्तर पर राजा बन के देख सकते हैं और राजा बन भी जाएंगे <laughs> शेख दिल्ली वाली घटना सब कर मध्य क्या जी शेख चिल्ली वाली घटना सुनी होगी ना है जी या नहीं सुनी याद है कुछ भी और पानी की बात है जी याद है शेख चिल्ली वाली ये दो पत्नियां होंगी एक कल बच्चा आएगा जो कहूंगा नहीं तुझे नहीं करता होगा घड़ा <laughs> गिर गया कनस्तर गिर गया और कनस्तर गिर और वो वो जिसका वो घी था सेठ का जो घी ले आया था वो कनस्तर था उसने बड़ा बुरा भला कहा बड़ा दुखी हो गया कि क्या बात है देखो मेरा इतना मूल्य का इतना मूल्य मूल्य का मेरा घी चला गया उन्हें कहता तेरा तो घी चलेगा मेरा परिवार का परिवार ही चला गया तो आप देखेंगे कैसी विचित्र घटना है कि उस समय व्यक्ति राजा बन के देखता और राजा बनने पर भी दुखी कुछ विचित्र अवस्था है राजा बन गया और राजा बनने पर भी दुखी कहता ये भी रहने की ठीक बात नहीं आपने कभी संख्या पढ़ा तो होगा भाव ने देव वो क्या पाठ है है कि ध्यान देना पुनरावृत्ति वो क्या पाठ है वहां पर से भी आवृत्ति होती है हाँ वहां से भी आवृत्ति होती है तो क्या सोचता है इतने ऊंचा स्थान प्राप्त कर वहां से भी आवृत्ति होती है संख्याकार ने बात दोहराई ना आवृत्ति होगी वो ऐसे देखता है वो देखता है तो कहता नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए वो कोई भी कल्पना करता है जो कुछ हो सकती है सारी कल्पनाओं को कर करके देखता पर उसको सुख नहीं मिलता दुख नहीं छूटता ऐसी स्थिति में आके लौकिक प्रयोजन से रहित हो जाता है क्या समझ में लौकिक जितने प्रयोजन हो सकते थे दृष्टानुसर्विक उन प्रयोजनों से रहित हो जाता खाली कर देता दुख नहीं हट रहा है सुख नहीं मिल रहा है तो उसको लौकिक स्तर पर कोई दृष्टानुसर्विक कोई भी स्तर उसको दुख हटाने वाला और शांति देने वाला दिखता ही नहीं अब ये स्थिति आती है और उस समय ये वैराग्य की बात जो सोचता है इसकी आकृति बदल जाती है इसके विचार बदल जाते हैं इसके हाव भाव बदल जाते हैं इसके इस, इसकी जीवन की घटनाएं सारी की सारी समाप्त होती है जितना भी जीवन व्यतीत हुआ वह सारा जीवन समाप्त हो जाता है <laughs> पूरा जीवन समाप्त होता है और नया जीवन आरंभ होता है अब देख लीजिए आप यदि ऐसा आप नहीं कर सकते तो आप विद्वान बन सकते हैं लेखक बन सकते हैं संस्थाएं चला सकते हैं ये सब सम्मान हो सकता सब हो जाएगा पर समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती ये नहीं हो सकता लौकिक स्तर पर आपको सब कुछ मिलेगा सम्मान मिलेगा धन मिलेगा साधन मिलेंगे जैसा आप देखते हैं सब हो जाएगा अब मैं आपको एक घटना सुना रहा था जब ये स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति रहना चाहता है कि मैं स्थिति में रहूं अब लोग उसको कहते हैं ये पागल हो गया क्या हुआ ये हुआ अच्छा उन्हीं बातों से वो डर करके अपनी स्थिति को छोड़ता है रह नहीं सकता उसमें जब नहीं रह सकता तो आप समझ रखना आगे नहीं बढ़ पाएगा इसलिए इन विषयों को समझने के लिए और स्वयं को ऐसी स्थिति में ले जाने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा वो आप अच्छे प्रकार से विचार लीजिए आप कर सकते हैं ये प्रसिद्ध बात है कि कोई कितना कोई कितना स्तर भिन्न भिन्न होते हैं पर मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाले को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति जब करता है पूरी शक्ति लगाता है तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा उसके अंदर जो सत्यग्रहिता की भावना या सत्य त्याग की जो पूरी रूपरेखा है उसकी बस ये मूल में रहेगी तीन काल में पूरा सत्य क्या है बस मुझे ये चाहिए दीन काल में असत्य क्या है उसको मैं दूर फेंक करके हट के दूर रहना चाहता हूँ फिर उसको कोई डरा नहीं सकता कोई उसको धमका नहीं सकता कुछ भी नहीं रोक सकता और याद रखना ऐसे व्यक्ति को ईश्वर सीधी सहायता देता है क्या समझ में आया ईश्वर के आदेशानुसार जो सोचता उसके आदेश का पालन करता और फिर ईश्वर समर्पण की जो स्थिति है वो उसको ईश्वर सीधी सहायता देता अब आप प्राप्त न कर सकेंगे आपकी अपनी त्रुटि दोष रहेगा ईश्वर की ओर से कोई दोष नहीं अब विराम